Acharya ji, in fact, it is not very clear to me whether are we living or dying. Sir, as it appears to me that the society in which we live is not healthy in its true sense and is dominated by the controversial issues like education, religion and science rather not being dynamic. As I understand, sir, because of these various conditions, we are swinging like a clock pendulum would you please suggest some education reforms which should make our lives worth, li परिवर्तनशील है उतना जीवित और जो व्यक्ति जितना स्थिर हो गया है स्टेगनेंट हो गया है रुक गया ठहर गया उतना ही मृत है तो मृत्यु का और जीवन का अर्थ चाहे व्यक्ति के संबंध में चाहे समाज के संबंध में चाहे सभ्यता के संबंध में कुछ समाज है जो ज्यादा मरे हुए हैं कुछ समाज है जो ज्यादा जीवित है कुछ सभ्यताएं हैं जो ज्यादा मरी हुई है कुछ सभ्यताएं हैं जो ज्यादा जीवित है लेकिन फिर भी अब तक ठीक अर्थों में मनुष्यता जीवित नहीं कही जा सकती मनुष्यता करीब करीब मृत प्राय है और ऐसा आज ही नहीं हो गया है ऐसा अतीत से ही रहा है असल में हमने जो मूल्य चुने हैं वे मूल्य ही मृत्यु के मूल्य जीवन के मूल्य नहीं जो वैल्यूज हमने चुनी वे मार डालने वाली है जीवन की तरफ उलट देने वाली नहीं है तो जैसे मनुष्यता के सारे आधार अतीत के आदर पर खड़े हुए हैं जो बीत गया उसका सम्मान और आदर्श जो बीत गया वो मर चुका है मरे हुए का बहुत आदर्श नए के जन्म देने में बाधा बनता आदर का सम्मान का भाव तो होना चाहिए नए सूरज के लिए नया सूरज जो उग रहा है उसके लिए जो डूब गया सूरज सूर्यास्त हो चुका उसके लिए अगर बहुत आदर जगाया जाए तो व्यक्ति को समाज को मारने वाला सिद्ध होता है जो व्यक्ति और जो समाज अतीत उन्मुख है चित्त का केंद्र अतीत है बीत गया मर चुका वो एक अर्थों में मरघट में जी रहा है जहाँ जीवन का जन्म हो रहा है भविष्य में जहाँ सूरज उगेंगे जहाँ नया जीवन खिलेगा जहाँ नई संभावनाएं विकसित होंगी वहां हम नहीं जी रहे हम जी रहे हैं वहां जहाँ संभावनाएं समाप्त हो गई जहाँ मरघट है जहाँ कपड़े हैं जहाँ चिताएं जल गई जो बीत चुका न हो चुका समाप्त हो चुका वहां हमारे चित्त केंद्रित है तो ये जीवन को गति देने वाला मूल्य ना हुआ जीवन को गति देने वाला मूल्य तो तब होगा जब हम समाज को भविष्य उन्मुख बना सके फ्यूचर सेंटर्ड बना सके अभी जो समाज है वो पास्ट सेंटर्ड है ऐसे ही जो हमें ज्ञात है जो नोम है जो हमारा ज्ञान बन गया हम उसी से चिपक के जीने को बड़ा मूल्यवान मानते रहे वेद है गीताएं हैं कुरान है बाइबलें है महावीर है बुद्ध है क्राइस्ट है कृष्ण है कंफ्यूस है ये वे नाम है जो मनुष्य जाति जान चुकी that which has become known और अगर हम इसी को पकड़ के रह जाएं, तो वो जो अनोन है अज्ञात है उसे हम कभी भी नहीं खोल पाएंगे क्योंकि ज्ञात से जाने वाला कोई भी मार्ग अज्ञात में नहीं ले जा रहा अज्ञात में जाना हो तो ज्ञात को छोड़ने की निरंतर क्षमता चाहिए जो हमने जान लिया हो उसे छोड़ने की हिम्मत चाहिए तब हम उसे जान सकते हैं जो अभी नहीं जाना गया है और जो हमने जाना है वो इतना कम है उसके मुकाबले जो हमने नहीं जाना है कि इसे पकड़ लेना अपने हाथ से मरने का उपाय खोजिए लेकिन मनुष्य निरंतर ज्ञान को बहुत मूल्य देता रहा ज्ञान यानी जो जाना जा चुका है और अगर जाने जा जो तो बहुत हम मूल्य देंगे वेदों को कुरानों को पकड़ लेंगे तो जो नहीं जाना जा सका है उसे हम कभी भी नहीं जान सकेंगे और जीवन है उसको निरंतर जानने में जो नहीं जाना गया है जो अज्ञात है उसे उगाड़ने में उसे डिस्कवर करने में उसे अनाकृत करने में तो ज्ञान का मूल्य कम होना चाहिए ज्ञान की पकड़ कम होनी चाहिए अज्ञान का बोध ज्यादा होना चाहिए यानी मैं ये कह रहा हूं कि जीवन के पक्ष में अज्ञान का बोध द कॉन्सियसनेस ऑफ इग्नोरेंस कि कितना हम है जो नहीं जानते हैं ये तो जीवन को विकास देगा क्योंकि नहीं जानते हैं तो जाने और अगर हमने ज्ञान को जो छोटा सा कोना जान लिया है उसको महत्वपूर्ण समझ लिया और उसे पकड़ लिया और ज्ञान बन के बैठ गए तो मर गए तो जो समाज जितने ज्यादा अतीत के ज्ञान को पकड़ के बैठ गए हैं वे उतने मरे हुए समाज हो जाएंगे लेकिन जो समाज अनजान अज्ञात अनोन में प्रवेश कर रहे हैं वे उतने जीवित समाज होंगे निश्चित ही ज्ञान को पकड़ लेना सुविधापूर्ण है कन्वीनियंट है कंफर्टेबल भी है अज्ञान का बोध बहुत इनकन्वीनियंट है क्योंकि ये जानना कि मैं क्या नहीं जानता हूं एक यात्रा पर ले जाएगा मुझे जहां मुझे जानने के लिए श्रम करना पड़ेगा और ये मान लेना कि ये हम जानते हैं सब यात्रा का अंत हो गया मैं जहां हूं वहीं ठहर जाता हूँ ये कष्टपूर्ण नहीं और जीवित होने में कष्ट छिपा है मरना बड़ा कन्वीनियंट है असल में मौत बड़ी सुखद है क्योंकि सब चिंताओं से सब खोजों से जीवन के बोझ से जीवन के तनाव से श्वास लेने की पीड़ा और कष्ट से भी मुक्त कर देती तो हम जाने अनजाने सुख और सुविधा की तलाश में मरने का इंतजाम कर लेते हैं और एक डाइंग कल्चर पैदा हो जाता है जो दिखता भर है कि जी रहा है लेकिन मरता है अगर हमें जीवंत संस्कृति चाहिए तो हमें निरंतर श्रम को नई संभावनाओं को नए कष्टों को नए तपों को स्वीकार करने का बल्कि आमंत्रण देने का मन होना चाहिए अज्ञान का बोझ चाहिए ज्ञान का बोझ नहीं ज्ञान का बोझ मार डालता है इसलिए ज्ञानियों से ज्यादा मरे हुए आदमी खोजना मुश्किल है डेड माइंड्स पंडितों से ज्यादा मरा हुआ मस्तिष्क होता ही नहीं सोशील उसके पास कुछ भी जीवन नहीं और जितना व्यक्ति खोज कर रहा होगा जीवंत होगा ज्ञान से मुक्त होगा अज्ञान के बोध से भरा होगा उतना अज्ञात में प्रवेश कर रहेगा अब ये बड़े मजे की बात है जिनके मन में ज्ञान का बोझ जितना ज्यादा है वे उतना ही कम जान पाएंगे तो ये उल्टा मालूम पड़ता है ज्ञान की पकड़ जिनकी जितनी ज्यादा है वे जानने की दुनिया में उतना ही कम जान पाएंगे जिनकी ज्ञान पर कोई पकड़ नहीं है जो ज्ञान से मुक्त है और जिन्हें अज्ञान का बोध है वे विनम्र होंगे और जानने की यात्रा में लगे रहेंगे और उनके चित्त को अगर निरंतर जीवित रहना हो तो जो वे खुद जान लेंगे उसे भी वे छोड़ते चले जाएंगे उससे भी वो बोझ से नहीं भर जाएंगे यानी गीता और कुरान ही मुझे बोझ से नहीं भर सकते मैंने भी पिछले तीस चालीस वर्षों में जो जाना है अगर उसे भी मैं पकड़ लू अपने अनुभव को भी अगर मैं पकड़ लू अगर उसके लिए भी मैं नोइंग का भाव पकड़ लू कि मैं जान गया तो फिर आने वाले दिन मरे हुए होंगे फिर मैं और नहीं जान पाऊंगा इसलिए ज्ञान की प्रक्रिया का सीक्रेट और राज ये है कि जानो और छोड़ो ताकि तुम निरंतर जानते रहो जानो और जाने दो ताकि तुम निरंतर ओपन खुले और मुक्त रहो ताकि द्वार से जो और नया आ सके वो आए जानो और छोड़ दो लेकिन हम आमतौर से जानते हैं और पकड़ते हैं बल्कि मजा ये कि जो हम नहीं भी जानते उसको भी जानने की तरह पकड़ लेते हैं हमने ज्ञान को तिजोड़ी बना रखा है कि जानो और ताला लगा के बंद कर लो ये संपत्ति है और जिस ज्ञान को हम पकड़ लेते वो पत्थर हो जाता मर जाता है ज्ञान तो निरंतर जानने में है यानी इसे ऐसा समझना चाहिए नॉलेज मूल्यवान नहीं है नॉइंग मूल्यवान है ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जानने का मूल्य है क्योंकि ज्ञान का मतलब है पूरा हो गया वृक्ष क्लोज हो गया और जानने का अर्थ ओपनिंग है जान रहे हैं जान रहे हैं जानते जा रहे हैं और ऐसी कोई घड़ी ना आए जहां ये भ्रम पैदा हो जाए कि जान लिया जिस समाज को जिस व्यक्ति को जिस सभ्यता को ये ख्याल आ गया कि जान लिया वो मर गई भारत इसी तरह मरा इसको हजारों साल से ये ख्याल है कि जान लिया पा लिया सब सर्वज्ञ हो गए हम जगत गुरु हो गए हम जो जानना था वो जान इसलिए आइंस्टीन भारत में पैदा नहीं होता कैसे होगा यहाँ नहीं पैदा हो सकता यहाँ तो हम बहुत पहले ही जानने का काम पूरा कर चुके हैं वो तो गीता के वक्त ही रुक गया वो तो बुद्ध और महावीर पर भी हमने दरवाजे बंद कर दिए जानना पूरा हो चुका अगर बुद्ध का जानना पूरा हो चुका है तो बुद्ध के बाद के 2500 वर्ष जीवित कैसे हो सकते हैं मरे हुए होंगे और फिर बुद्ध के पैदा होने की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि बुद्ध तो उसी पीड़ा में से और चिंता में से पैदा होते हैं जो जानने की सोच है और हम हम तो शांत होकर बैठ रहे हैं क्योंकि जान दिया गया तो मैं ये कह रहा हूं कि संस्कृति सभ्यता समाज मरा हुआ हो जाता है अगर उसके मूल्य मरने के हों जैसे नोइंग का मूल्य तो जीवन का है नॉलेज का मूल्य मरने का है लर्निंग का मूल्य तो जीने का है लर्नड होने का मूल्य मर जाने का है पांडित्य मार डालता है ज्ञान की खोज निरंतर निरंतर सतत अगर कोई व्यक्ति मरने के आखिरी चरण भी जानने को आतुर है तो वो मरते क्षण में भी जीवित है और मर के भी जीवित होगा वो जानने की जो पुलक और आतुरता है वही चेतना का लक्षण और जिस चेतना को ऐसा लगा कि जान दिया उस पर जंग लग जाती ऐसे ही हमने और भी बहुत से मूल्य पकड़ रखे हैं जो मूल्य व्यक्ति को हत्या करने में सहयोग किया जैसे डिसिप्लिन का बहुत मूल्य अनुशासन का अनुशासन से ज्यादा मारने वाली कोई चीज नहीं क्योंकि अनुशासन का मतलब यह है कि जो कहा जाए वो करना है उस पर सोचना नहीं है इसलिए हम सैनिक को अनुशासन सिखाते हैं क्योंकि उससे हमें ऐसे काम लेने हैं कि अगर उसने सोचा तो वे काम वो तो कभी कर नहीं सकेगा जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया वो एटम बम गिरा के वापस लौटा और सो गया और उससे सब सुबह जब किसी ने पूछा कि एक लाख बीस हजार लोग मर गए तुम रात सो सके उसने कहा मैं बड़ी शांति से सोया क्योंकि मैंने आज्ञा पूरी कर दी वापस कर एक आज्ञा मुझे मिली थी कि जाऊं और एटम गिराऊं और वापस ला वो मैंने काम पूरा कर दिया आज्ञा पूरी हो गई मैं शांति से सो काम मैंने पूरा कर दिया मेरा कर्तव्य निभा दिया अब इस आदमी को अपना कर्तव्य निभाना कि जो पत्थर जैसी दीवार है उसके बाहर ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक लाख बीस हजार आदमी मरे अगर ये आदमी थोड़ा भी सोचने वाला होता तो कहता कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं एक लाख बीस हजार लोगों को मारने जाने वाला नहीं लेकिन इंतजाम कर लिया गया पहले से कि आदमी सोच ना सके इसलिए मिलिट्री में शिक्षण में एक आदमी को तीन चार वर्ष तक लेफ्ट राइट बाएं घूमो दाएं घूमो आगे जाओ पीछे जाओ जैसे बेवकूफी के काम करवाते हैं ये जान के करवाते हैं ये पूरा सुव्यवस्थित क्योंकि जब इस तरह के फिजूल के काम एक आदमी दो चार पांच वर्ष तक करता रहता है और जब बाएं घूमने को कहा जाता है तो मशीन की तरह बाएं घूमता है दाएं घूमने को कहा जाता है दाएं घूमता है पांच छह वर्ष की निरंतर इस मूर्खतापूर्ण अभ्यास में वो आदमी मशीन हो जाता है जब उससे कहा जाता है गोली चलाओ तो वो मशीन की तरह बंदूक के घोड़े पर हाथ रख गोली चला देता है ये वैसे ही है जैसे लेफ्ट टर्न ये सवाल नहीं है कि दूसरी तरफ आदमी मर रहा है उसको मैं मारू या ना मारू ये सोचने की बात ही नहीं अनुशासन मारता है अनुशासन इसलिए मैं मानता हूं कि मारने वाला तत्व विवेक चाहिए विवेक बहुत और बात है विवेक का भी एक अनुशासन कर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया उच्छृंखल हो जाए मैं ये कह रहा हूं कि विवेक का भी एक इनर डिसिप्लिन है एक विवेकपूर्ण व्यक्ति सोचेगा कि जो करने जैसा है वो जरूर किया जाए जो न करने जैसा है वो कभी ना किया जाए विवेकपूर्ण व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज में इंकार कर देगा विवेकपूर्ण व्यक्ति का ये मतलब है कि उसकी हाँ की और ना की दोनों क्षमताएं बचाई गई वो ना भी कह सकता है और डिसिप्लिन आदमी का मतलब है कि उसकी ना कहने की क्षमता अंत कर दी गई वो सिर्फ ना ही कह सकता है और जो आदमी सिर्फ ना कह सकता है वो आदमी आदमी नहीं और उसके हाँ का भी कोई मूल्य नहीं क्योंकि हाँ का भी मूल्य तभी है जब कोई ना कहने में समर्थ तभी हाँ में भी वजन है और जो आदमी ना कह ही नहीं सकता उस आदमी के हाँ कहने में हमने उस आदमी को यंत्र बनाने का इंतजाम कर दिया पुरानी सारी व्यवस्था मनुष्य को यांत्रिक बनाने वाली है वो एक ऐसा अनुशासन सिखाती है जहाँ के हम जड़ मशीनों की तरह काम करते हैं वो हमें विवेक नहीं देती वो हमें विचार नहीं देती विश्वास देती है बिलीफ देती है डिसिप्लिन देती वो हमें इतनी क्षमता नहीं देती प्रत्येक व्यक्ति विचार करे वो हमसे कहती है गुरु का आदर करो मैं मानता हूं कि जब सिखाया जाए कि गुरु का आदर करो तो ये अनुशासन हुआ और जब ये सिखाया जाए कि जिसके प्रति तुम्हें आदर आ जाए वो गुरु है तो ये विवेक हुआ यानी मेरी हिसाब में गुरु के प्रति आदर गलत शिक्षा है हाँ असल बात यह है कि जिसके प्रति तुम्हें आदर आ जाए वो गुरु हो ये बिल्कुल दूसरी बात ये बिल्कुल ही भिन्न बात पुरानी शिक्षा कहती है कि पत्नी को प्रेम करो ये अनुशासन की बात और मैं मानता हूं जिससे तुम्हारा प्रेम हो वो पत्नी बनाने योग्य ये विवेक की बात है ये बहुत भिन्न है इसमें एक जीवन होगा क्योंकि प्रेम में एक जीवन और प्रेम से अगर पत्नी निकले तो इस पत्नी से जो संबंध होगा उसमें भी जीवन पुरानी शिक्षा कहती है कि पत्नी पहले बनाओ फिर जो पत्नी है उसको कर्तव्य के कारण प्रेम करो क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी अब ये प्रेम मरा हुआ होगा ये पैदा ही होने वाला नहीं क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाएं घूमो दाएं घूमो जैसी चीज नहीं कि कहो कि प्रेम करो और आज ही प्रेम करने लगे प्रेम किसी आज्ञा से नहीं हो सकता न किसी शास्त्र के नियम से हो सकता प्रेम तो उद्भूत हो तो मेरा मानना है कि प्रेम इतनी अद्भुत घटना है कि वो घटे तो उसके पीछे कोई पत्नी हो जाए पति हो जाए समझ में आता है लेकिन पति पत्नी कोई पहले हो जाए फिर प्रेम नियम के अनुसार किया जाए तो प्रेम मुर्दा होगा और उस मुर्दे प्रेम के साथ पति भी मुर्दा होगा पत्नी भी मुर्दा होगी इसलिए हमारा परिवार जो है वो एक डेड एंटाइटी एक मरा हुआ अंग है और इसलिए हमारे परिवार के इस मरे हुए अंग होने की वजह से अगर इस परिवार में कोई जीवित व्यक्ति पैदा हो जाए तो विद्रोह अनिवार्य है विद्रोह का कारण वो विद्रोही व्यक्ति नहीं है ये परिवार की डेडनेस है एक हम मरा हुआ अंग है इसके भीतर या तो मरना पड़े या बगावत करनी पड़े परिवार चाहिए जीवंत और जीवंत परिवार का नियम अनुशासन नहीं होगा विवेक होगा और इसी भांति में जीवन के सारे तत्वों के संबंध में मानता हूँ शिक्षक स्कूल में कहता हो कि हम जो कहते हैं वही सही तो ये शिक्षक शिष्यों का दुश्मन है जो शिक्षक ये कहता है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है इससे बड़ा दुश्मन शिक्षक नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चे में विचार करने की क्षमता को कुंठित कर रहा है ये हत्या कर रहा है बच्चे की ये कह रहा है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं जो मैं कहता हूँ वो सही शिक्षक तो होना चाहिए बुद्ध जैसा व्यक्ति बुद्ध लोगों से कहते कि तुम इसलिए मेरी बात मत मानना कि मैं बुद्ध हूं जागा हुआ तुम इसलिए भी मेरी बात मत मानना कि बहुत लोग मेरी बात मानते हैं तुम इसलिए भी मेरी बात मत मानना कि मेरी बात शास्त्र सम्मत है तुम इसलिए भी मेरी बात मत मानना कि आदमी आचरणवान है साधु है तुम इसलिए भी मेरी बात मत मानना कि तुम मेरे व्यक्तित्व से सम्मोहित हो गए हो तुम सोचना और तुम्हें ठीक लगे तो ही मानना अब ये आदमी शिक्षक का अर्थ पूरा कर रहा है क्योंकि ये थोक नहीं रहा बल्कि आप भी भूल से न थोक ले उसकी भी सब व्यवस्था कर रहा है कि आप इस तरह इस तरह छोड़ देना ये ये मत मानना एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो आग्रहपूर्ण ना हो मनवाने के लिए जो आग्रहपूर्ण हो खोज के लिए और जो विद्यार्थी के साथ स्वयं मिलकर खोज पर निकल जाने की तत्परता दिखाए कि हम आए और खोजे हम सोचे और विद्यार्थी को विश्वास ना दे बल्कि उसकी विचार की क्षमता को विकसित कर दे विचार ना दे विचार ना दे थॉट्स ना दे थिंकिंग दे तो तो जो समाज संस्कृति विकसित होगी वो जीवंत होगी नहीं तो जो समाज और संस्कृति बनेगी वो मृत होगी अब तक जो समाज बना है वो मरा हुआ है क्योंकि तो उसके मूल्य मारने वाले हैं उसके मूल्य जिलाने वाले नहीं है और अब तक जो समाज रहा है वो भयभीत है जीवन से वो जीवन से ही डरा हुआ है वो अत्यंत भयातुर है वो किसी व्यक्ति को जीवंत नहीं देखना चाहता क्योंकि जीवंत व्यक्ति के साथ कुछ खतरे अनिवार्य रूप से आने शुरू होते हैं जैसे जीवंत व्यक्ति व्यक्ति होगा समाज का अंग नहीं और समाज व्यक्तियों को पसंद नहीं करता समाज पसंद करता है अंगों को जैसे एक बड़े यंत्र में छोटा सा पुर्जा लगा है बस समाज चाहता है कि व्यक्ति की हैसियत पुर्जे की हो वो स्वयं ना हो वो अपनी हैसियत से खड़ा ना हो जाए समाज डरता है कि अगर व्यक्ति होंगे तो समाज कहाँ होगा तो समाज व्यक्तियों को मारने का उपाय करता है और व्यक्ति ही जीवित हो सकते हैं समाज तो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि समाज तो सिर्फ एक व्यवस्था है व्यवस्था सदा मृत होती है उसके भीतर जीवंत व्यक्ति हो और, और समाज मारता है व्यक्ति को वो कभी नहीं चाहता इंडिविजुअल्स हो बल्कि जब भी कभी कोई व्यक्ति पैदा होगा तो समाज मुश्किल में पड़ता है कोई सुपरात पैदा हो जाए तो समाज जहर देगा और समाज ये आरोप लगाएगा कि ये आदमी समाज को विच्छिन्न कर देगा अराजकता पैदा कर देगा ये सब तोड़ देगा क्राइस्ट पैदा हो तो सूली पे लटकाना पड़ेगा क्योंकि ये आदमी व्यक्ति होने की कोशिश कर रहा है ये ये कह रहा है कि मैं सोचूंगा मैं जीऊंगा तुम मुझे जीने के सूत्र मत दो मैं प्रेम करूंगा तुम मुझे मत समझाओ कि किसको प्रेम करूं मैं आदर दूंगा लेकिन तुम तय मत करो कि मैं किसको आदर दू मैं तुमसे आज्ञा नहीं चाहता मुझे तुम हैसियत दो अपनी समाज की बड़ी व्यवस्था घबराती है इससे कि व्यक्ति पैदा हो जाए इसलिए पुराना समाज मरा हुआ समाज था अगर जीवन समाज पैदा करना है तो व्यक्ति को समाज का अंग नहीं बनाना है व्यक्ति को परिपूर्ण मुक्त और इकाई बनानी है यूनिट इन इट और समाज होगा इन व्यक्तियों का अंतर संबंध यानी इस बात को समझ लेना है ठीक से कल तक समाज था महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उसके अंग ये मरे हुए समाज का लक्षण है समाज होगा महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उसके अंग जीवंत समाज का ये लक्षण होगा व्यक्ति होंगे महत्वपूर्ण समाज होगा सिर्फ उनका अंतर संबंध समाज होगा उनके बीच का संबंध जीवंत व्यक्तियों के बीच का संबंध समाज होगी इंटर रिलेशनशिप व्यक्ति अंग नहीं होगा व्यक्ति स्वतंत्र इकाई होगा और समाज स्वतंत्र इकाइयों के बीच का अंतर संबंध होगा कल तक व्यक्ति स्वतंत्र इकाई न था स्वतंत्र इकाई थी समाज और व्यक्ति था उसका अंग समाज जैसा तय करता था वैसा व्यक्ति को जीना पड़ता था जीवन समाज का लक्षण यह होगा कि व्यक्ति जैसा सोचेंगे वैसा जिएंगे और उनके जीने की इस लंबी प्रक्रिया से जो निर्मित होगा वो समाज होगा समाज तय नहीं करेगा व्यक्ति के जीवन व्यक्ति जीने और इनके जीने के अंतर संबंधों से जो निर्मित हो जाएगी व्यवस्था जो सहज फलित होगी वो समाज होगा आने वाले जगत में समाज गौण होगा व्यक्ति प्रमुख होगा अगर जीवन समाज बनाना है और अगर मरा हुआ समाज बनाना है तो व्यक्ति को गौण रखना है और समाज को महत्वपूर्ण रखना लेकिन अब तक यही था अब तक यही था और पुरानी दुनिया में बहुत आसान भी था व्यक्ति को मार डालना नई दुनिया में बहुत मुश्किल होगा जैसे अगर हम हजार साल पीछे लौट जाए एक गांव तो इस गांव की सारी व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति होकर कोई जी नहीं सकता अगर एक आदमी व्यक्ति होने की कोशिश करे छोटी मोटी बातों में बड़ी बातें तो बहुत दूर एक आदमी चोटी कटा ले तो समाज बहिष्कृत हो जाएगा कुएं पे पानी नहीं पी सकेगा शादी नहीं कर सकेगा मरेगा तो उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा उसका हुक्का पानी बंद वो किसी के घर भोजन में सम्मिलित नहीं हो सकेगा कोई उसके घर सम्मिलित होने नहीं आएगा अब उस छोटे से बंद गांव में जहां से बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति जमीनों से बंधे थे जमीन ही आधार थी वही पकड़े हुए थी मोबिलिटी कम थी हो नहीं सकती थी क्योंकि जमीन से बना हुआ आदमी मुक्त नहीं हो सकता जमीन से तो वो गांव के बाहर जाए कैसे और गांव में जीना है उसे तो कल खेत पर काम भी पड़ेगा और लोग सांस नहीं देंगे परसों घर में कोई बीमार पड़ेगा और वैद्य नहीं आएगा लड़की की शादी करनी होगी और लड़की नहीं मिलेगी और लड़की भी खोज ले तो शादी में कोई सम्मिलित नहीं होगा कल कोई मरेगा तो उसकी लाश को मरगर तक पहुंचाने वाला कोई साथी नहीं होगा इन छोटे से घेरे में उसको मजबूर होकर समाज के साथ जो समाज रहे उसमें जीना पड़ता था आने वाली दुनिया में टेक्नोलॉजी ने व्यक्ति को बड़ी मुक्ति दी है एक तो बड़ी मुक्ति दी है कि अब व्यक्ति अलग होकर अकेला भी जी सकता है आज वो समाज बहिष्कृत है या, या नहीं कोई अस्पताल उसे मना नहीं कर सकता कि हम तुम्हें दबा नहीं देंगे और जितनी टेक्नोलॉजी जिस मुल्क में विकसित हो रही है उतना व्यक्ति जमीन से मुक्त हो रहा है जमीन में उसकी जड़ें अलग हुई जा रही इसलिए छोटे गांव में आदमी जितना बंधा है बड़े नगर में उससे कम रहा है बम्बई में और कम रहा है न्यूयॉर्क में बंधन बिल्कुल भी नहीं समाज बिखर गया है क्योंकि उससे अपरूटेड हो गया है जहाँ उसकी जड़ें थी जहाँ से वो हट गया आज कोई ये नहीं कह सकता कि तुम कुएं से पानी नहीं भरोगे कि हर आदमी के घर में नल लगा हुआ है और वो जब चाहेगा टोपी खोलेगा और पानी निकलेगा आज कोई किसी को हुक्का पानी बंद करने का सवाल नहीं कोई किसी को बंद करने का प्रश्न ही नहीं जैसे जैसे जगत में तकनीक विकसित हुआ है वैसे वैसे अंतर होना शुरू हुआ है एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन गुजर रही है अब संभव है इस बात का बहुत कुछ कि हम व्यक्ति को मुक्त कर सके स्वतंत्रता दे सके लेकिन दूसरी भी बात संभावना की है ये संभावना है और अगर कोई हुकूमत और कोई समाज चाहे कि व्यक्ति को हम बिल्कुल पकड़ ले तो भी टेक्नोलॉजी उसके काम आ सकती जैसे समझ लें कि कुआ था गांव में और गांव के समाज ने इंकार कर दिया कि तुम पानी नहीं पी सकोगे तो भी रात आदमी चोरी से कुएं पर जा सकता था नदी से पानी ला सकता था अपने घर में एक छोटा कुआ भी खोज सकता है लेकिन अगर राज्य तय कर ले कि फला आदमी के घर में पानी नहीं पहुंचना तो आज बहुत मुश्किल हो जाए आज उसका नल काट दिया जाएगा बिजली का तार काट दिया जाएगा तो उसके घर में दिया जलना मुश्किल हो जाएगा टेक्नोलॉजी ने दोनों संभावनाएं स्पष्ट कर दी है अगर कोई समाज चाहे तो व्यक्ति को बिल्कुल मार सकता है यदि कोई समाज चाहे तो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे सकता है ये हमारे निर्णय पर निर्भर करेगा कि हम टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करते हैं रूस जैसे मुल्क में टेक्नोलॉजी का वो यही उपयोग कर रहे हैं मेरी दृष्टि में रूस में फिर एक ऐसा समाज पैदा हो रहा है जैसा समाज हिंदुस्तान के गांव में हजार साल पहले था जहाँ व्यक्ति की कोई हैसियत न थी व्यक्ति को बिल्कुल मारा जा सकता था उससे भी ज्यादा रूस में संभावना है उसके बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा चर्च वाले नहीं मिल सकती ये, ये संभावना टेक्नोलॉजी बढ़ाती इसलिए मैं कह रहा हूँ इस इस खतरे के प्रति भी सचेत होना चाहिए एक क्रांति गुजर रही है जिसमें व्यक्ति मुक्त हो सकता है समाज के अंग होने की उसे जरूरत नहीं है जो अपनी हैसियत से खड़ा हो सकता है अपनी एक दुनिया बसा सकता है मुक्त जैसा जीना चाहिए वैसा जी सकता है क्योंकि बंधन में नहीं है लेकिन Acharya when we live in this complicated society which uh, is based on the division of labor, and the division of labor requires a communication. when we require a freedom of labor and communication, definitely we have to keep some links and some adjustment is to be maintained. बिल्कुल जरूरी है असल में जब भी हम जी रहे हैं तो हम दूसरों के साथ जी रहे हैं जीने का अर्थ है दूसरों के साथ और जितना गहरा जीवन जीना हो उतना साथियों का घेरा बड़ा होना चाहिए जो आदमी सिर्फ अपने गांव से बंद के जी रहा है वो बहुत कम जी रहा है लेकिन जो आदमी पूरे जगत से जुड़ के जी रहा है वो बहुत जी रहा है और जो आदमी चांदारों से भी जुड़ गया है और पौधों और पक्षियों से भी जुड़ गया है वो और बड़ा जीवन जी रहा है असल में परमात्मा के जीवन का मतलब ही है कि अब ऐसा कोई हिस्सा शेष नहीं रहा जिसके मैं साथ नहीं सब मेरे साथ खड़ा हो गया तो मैं परमात्मा का जीवन जी रहा हूं जीने का अर्थ ही है साथ जीने का अर्थ ही है दूसरे से संबंधित होना तो जरूर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस व्यवस्था में जो जुड़ते हैं वो मर न जाते हो वे अपनी मुक्तता को अपनी स्वतंत्रता को बचा पाते हो मैं एक स्त्री को प्रेम करूं तो मैं प्रेम ऐसा भी कर सकता हूं कि उसकी गर्दन दबा दे और मैं प्रेम ऐसा भी कर सकता हूं कि उसकी कोई स्वतंत्रता उसमें शेष ना रहे मैं उसे पूरी तरह पजेस कर सकता हूँ जैसा मैं एक कुर्सी को पजेस किए हुए मैं एक कुर्सी को जैसा मालिक हो गया हूँ जहाँ कुर्सी को रखता हूँ कुर्सी को वहीं बैठना पड़ता है कुर्सी इंकार नहीं कर सकती मैं पत्नी को भी कुर्सी बना सकता हूँ तब भी एक संबंध होगा लेकिन वो संबंध एक मालिक का एक वस्तु के साथ होगा मैंने उस स्त्री को वस्तु बना दिया मैंने उस स्त्री की आत्मा को मार डाला और उस स्त्री को एक कमोडिटी एक एक सामग्री में परिवर्तित कर दिया निश्चित ही ये बहुत सुविधापूर्ण क्योंकि वस्तु के सांस में पूरा मालिक हो गया वस्तु कुछ कर नहीं सकती यही तो किया गया था यही किया था पुरानी संस्कृति ने कि स्त्री को बिल्कुल मार डाला था पति को परमात्मा बना दिया था पतियों ने ही मिलजुल के साजिश रची थी और कहा था कि स्त्री के हम पति परमात्मा है स्त्री पति कैसा भी हो स्त्री को उसके संबंध में विचार भी नहीं करना और हमने बढ़िया कहानियां रची थी हमने कहानी रची है सावित्री सत्यवान की सत्यवान मर गया है तो सावित्री यम से लड़के उसको वापस लौटा लाई मैं स्त्रियों की सभा में बोल रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे एक आध ऐसी कहानी भी बता सकती हो जिसमें पत्नी मर गई हो और पति लौटा लाया हो पत्नी इधर मरी कि पति दूसरी पत्नी ले आता है उसी पत्नी को लौटाने की जरूरत क्या है अगर सावित्री मरती तो सत्यवान दूसरी लड़की की खोज में निकल गए होते सत्यवान मरा है तो सावित्री उसी पति को वापस करने की कोशिश कर रही है सावित्री का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है व्यक्तित्व है तो सत्यवान का है सत्यवान जीता है तो सावित्री का जीवन और सत्यवान मरा तो सावित्री का जीवन मरा निश्चित ही परिवार बनाना होगा तो एक पुरुष एक स्त्री को प्रेम करेगा एक स्त्री पुरुष को प्रेम करेगी लेकिन ये संबंध दो तरह के हो सकते हैं एक या तो इनमें से एक मार डाला जाए अगर दुनिया में कल स्त्रियों का हक हो जाए और स्त्रियां जीत जाए तो हो सकता है पति को मार डाले ऐसे समाज भी है जहां स्त्रियों ने पतियों को मार डाला है मेटरनल सोसाइटीज में मात्र सत्ताक समाज है तो वहां पति को बिल्कुल मार डाला है स्त्रियों पति बिल्कुल नौकर की हैसियत में जैसा स्त्री हमारे समाजों में नौकर की हैसियत में संबंध ये भी हो सकता है कि दो एक को मार डालें सब संबंध हो और संबंध ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का व्यक्तित्व शेष रहे दोनों जीवन से इकाई रहे दोनों एक दूसरे को बांधने वाले न हो लेकिन दोनों इस निर्बंध स्थिति में एक दूसरे को प्रेम देने वाले हों इस निर्बंध स्थिति में जो प्रेम होगा तो मैं मानता हूं कि जीवंत होगा अगर एक मर गया तो सब मर गया फिर जीवंत नहीं हो सकता है ऐसे ही समाज की सारी व्यवस्था में मेरी दृष्टि है जैसे मेरी दृष्टि यह है कि गुरु शिष्य को मार न डाले इससे उल्टा भी हो सकता है कि शिष्य मिलकर गुरु को मार डाले रूस में शुरू शुरू में क्रांति के बाद जो व्यवस्था बनी थी वो कुछ दिन चली उसे खत्म करनी पड़ी वहां उन्होंने उल्टा इंजाम कर दिया उल्टा इंजाम ये कर दिया कि क्रांति के बाद विद्यार्थियों की कमेटियां बना दी और विद्यार्थी की कमेटी किसी शिक्षक के बाबत भी शिकायत कर दे तो बिना पूछताछ उस शिक्षक की मुश्किल शुरू हो जाए मैं हाई स्कूल में पढ़ता तो मेरे एक शिक्षक ने कुछ अभद्र शब्द मुझसे बोल दिया तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप अभद्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप मुझको भी इसी तरह के शब्द का उपयोग करने का हक देंगे यानी इतना मैं समझता हूं कि आप अभद्र शब्द के विरोध में नहीं है आप उपयोग कर रहे हैं तो इतना मैं मान लेता हूं कि आप इसके विरोध में नहीं तो मैं भी उपयोग कर सकता हूं तो वो इतने आग बबूला हो गए कि वो गए और उन्होंने जाके स्कूल में रजिस्टर हुआ करता था पनिशमेंट के लिए उसने मेरे नाम पांच रुपए लिख के और मैंने उनके साथ अशोभन व्यवहार किया है मेरे लिए पांच रुपए का दंड उसने लिख दिया मैं उनके पीछे गया और मैंने भी उसके नीचे पच्चीस रुपया उनके नाम दंड लिखा कि अगर विद्यार्थी अशोभन व्यवहार करे तो पांच रुपया दंड ठीक है लेकिन अगर शिक्षक अशोभन व्यवहार करे तो कम से कम पांच गुना दंड तो होना चाहिए क्योंकि वो मुझसे पांच गुना ज्यादा समझदार माना जाना चाहिए पच्चीस रुपए मैंने दे दिया उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुला के कहा कि तुम पागल हो गए हो कभी किसी विद्यार्थी ने किसी शिक्षक का कभी कोई दंड किया मैंने कहा न किया हो लेकिन मैं अपने पांच रुपए तभी चुकाऊंगा जब ये पच्चीस रुपए ले लिए जाए और नहीं तो पूरे स्कूल की अदालत बिठा ली जाए मैं अपनी चीज पेश कर दूं वो अपनी चीज पेश करने की बात क्या है क्योंकि प्राथमिक रूप से मुझसे अभद्र व्यवहार किया गया है और मैंने अभद्र व्यवहार किया नहीं सिर्फ आज्ञा चाहिए थी कि मैं भी अभद्र व्यवहार करूं इसकी आप आज्ञा दे दें अभी मैंने किया नहीं अगर यही अभद्र व्यवहार हो गया तो बात अलग है रूस में उन्होंने ऐसा इंतजाम किया था कि बच्चे जो शिकायत कर दें तो उस पर कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं जैसा हमारे यहाँ इंतजाम है शिक्षक जो शिकायत कर दे तो फिर बच्चे से पूछने की कोई जरूरत नहीं ये शिक्षक विद्यार्थी को मार रहा है यहां दंड विद्यार्थी शिक्षक का नहीं कर सकते शिक्षक ही विद्यार्थी का कर सकते रूस में उल्टा हो गया था क्रांति के पांच सात साल तक विद्यार्थी जो भी दंड देना चाहे शिक्षक को दे सकते थे और विद्यार्थी शिकायत कर रहे शिक्षक की नौकरी गई विद्यार्थियों ने शिक्षक को मार डाला लेकिन ये संबंध नहीं है ये सिर्फ बदले है शिक्षक विद्यार्थियों को मारे कि विद्यार्थी शिक्षक को मारे पति पत्नियों को मारे कि पत्नियों पतियों को मारे बेटे बाप को मार डालें कि बाप बेटों को मार डालें ये सवाल नहीं है मैं इन दोनों के विरोध में मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि कोई किसी को मार न डाले दोनों का व्यक्तित्व शेष रहे और संबंध हो और ये भी मेरा मानना है कि सभी संबंध हो सकते हैं एक वस्तु से हमारे कोई संबंध होते कुर्सी से मेरा कोई संबंध है क्या संबंध है कुर्सी से मेरा क्योंकि कुर्सी की तरफ से तो मेरी तरफ कुछ भी नहीं आ सकता एक वस्तु से संबंध नहीं हो सकते व्यक्ति से ही संबंध हो सकते हैं और इसलिए मेरा मानना है कि वही पत्नी पति को आनंद दे सकती है जिसके पास व्यक्तित्व है जो स्वतंत्र है जो ना भी कह सकती है जो हट भी सकती है कल और जिसे हमने पूरा मौका दिया है कि वो अपनी पूरी स्वतंत्रता में जिए हमें हक है कि हम प्रेम करें लेकिन प्रेम को हक मार डालने का नहीं और सच बात तो यह है कि जो प्रेम है तो प्रेम कभी किसी दूसरे को मारता नहीं अगर बाप को बेटे से प्रेम है तो वो प्रेम देगा लेकिन बेटे को बांधेगा नहीं प्रेम देगा और कहेगा कि मेरा प्रेम तुझे मुक्त करे अगर पत्नी को पति से प्रेम है तो उसको बांध नहीं लेगी वो प्रेम देगी और प्रेम पति की मुक्ति बनेगा प्रेम मुक्ति बननी चाहिए बंधन नहीं तो ही प्रेम सच्चा है नहीं तो प्रेम झूठा है और प्रेम के पीछे कोई दूसरी वृत्ति काम कर रही है प्रेम के पीछे कोई वायलेंस कोई हिंसा कोई तरकीब काम कर रही कोई दूसरी तरकीब जो प्रेम से बिल्कुल उल्टी कोई घृणा कोई ईर्षा कोई दूसरा ही काम कर रहा है प्रेम के पीछे प्रेम से सुगर कोटिंग है जहरीली दवाई फिलानी हो तो ऊपर से शक्कर चढ़ा दी ऐसा किसी की गर्दन दबानी हो तो पहले हमने प्रेम का सुगर कोटिंग किया है और फिर हम उसकी गर्दन पकड़ लिए Have I correct, Lord Acharya that you are in the favor of negative education? Negative education means that one should go on analyzing himself, that one can understand the police. Police from both sides. सच में पॉजिटिव एजुकेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती सब कीमती एजुकेशन निगेटिव होती है विधायक शिक्षा का मतलब है शिक्षा न देना असल में शिक्षा का असली आधार ही निषेध है शिक्षा का असली मूल्य ही निगेटिव माइंड पैदा करना है एक ऐसा मन जो संदेह कर सकता है एक ऐसा मन जो इंकार कर सकता है एक ऐसा मन जो विचार करने को राजी है एक ऐसा मन जो निर्णय को सस्पेंड करने के लिए भी हिम्मत कर सकता है एक ऐसा मन जो अज्ञान अनुभव कर सकता है एक ऐसा मन जो अज्ञात के प्रति उन्मुख हो सकता है ऐसा मन अगर पैदा करना हो तो पॉजिटिव नहीं शिक्षा देने का अर्थ है क्योंकि पॉजिटिव शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम तुम्हें सोचने का मौका नहीं देता हम तुम्हें बताए देते हैं कि तुम ये सोचो हम तुमसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान है ये पॉजिटिव शिक्षा हम तुमसे कहते हैं कि गीता सत्य ग्रंथ है हम तुमसे कहते हैं कि बाइबल ही असली ग्रंथ है हम तुम्हें बता देते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पॉजिटिव शिक्षा का मतलब है कि हम सिद्धांत देते हैं और तयशुदा सिद्धांत देते हैं जिनका निर्णय लिया जा चुका है उस निर्णय में तुम भागीदार नहीं वो निर्णय तुमसे अन्यथा लिया गया है तुम नहीं हो उसमें हिस्सेदार किन और ने निर्णय लिया है वो कोई भी हो उन्होंने निर्णय ले लिया है डिसीजन ले लिया है रेडीमेड है अब हम तुम्हें ट्रांसफर किए देते हैं विधायक शिक्षा का मतलब है कि अतीत ने जो निर्णय लिए हैं वो हम नई पीढ़ी को सौंपे देते हैं और नई पीढ़ी का सिर्फ एक काम है कि वो चुपचाप श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्वीकार कर ले ये पॉजिटिव शिक्षा का मतलब होता है पॉजिटिव शिक्षा मारने वाली शिक्षा है असल में निगेटिव माइंड ही माइंड है जब हम एक बच्चे में सोचने की क्षमता विकसित करवाते हैं और अवसर देते हैं कि वो चिंतन करे तो चिंतन में छिपा ही है कि वो निषेध करने की हिम्मत जुटाए चिंतन में छिपा ही है कि नास्तिक होने का मौका उसको मिले कि वो कह सके कि कृष्ण कैसा भगवान है शक की बात है कि वो कह सके कि राम का ये सीता से व्यवहार कैसा है ये व्यवहार शक की बात है कि वो कह सके कि मैं नहीं मानता कि क्राइस्ट ठीक आदमी ये मुझे न्यूरोटिक मालूम पड़ता है थोड़ा विकसित मालूम पड़ता है ये वो कहने का हक उसे होना चाहिए वो निषेध कर सके इनकार कर सके ऐसी शिक्षा जो सिद्धांत न देती हो बल्कि विचार करने की क्षमता को विकसित करवाती हो और विचार की क्षमता निषेध से शुरू होती है क्योंकि विधेय से शुरू होने का कोई कारण नहीं विधेय तो अंत है बिगिनिंग तो हमेशा निषेध है विदे तो दी एंड क्योंकि उसके आगे कोई सवाल नहीं तो मेरा कहना निषेध सिखाओ और विधेय तक उसे स्वयं पहुंचने दो नास्तिकता सिखाओ आस्तिकता तक उसे पहुंचने दो और मेरा मानना है कि नास्तिकता अगर ठीक से सिखाई जाए तो आदमी आस्तिकता तक पहुंच जाएगा और तब वो आस्तिकता बड़ी गंभीर गौरवपूर्ण गहरी होगी क्योंकि नास्तिक होने से गुजरी है इनकार करने के बाद आया है स्वीकार न कहने के बाद पैदा हुआ है हाँ जिस यश के पीछे नो नहीं है वो यश इम्पोर्टेंट है वो मरा हुआ उसमें कोई जान ही नहीं वो नपुंसक है जिसने न कहा है और न कहने की पीड़ा झेली और न कहने से गुजरा है और एक दिन उस जगह पहुंचा है जहां ना कहना असंभव हो गया है और उसे हाँ कहना पड़ा है तो ये हाँ क्रांति लाएगा उसके व्यक्तित्व में तो मैं कहता हूँ सिखाओ नास्तिकता और आने दो आस्तिक को आस्तिकता आएगी वो उसकी उपलब्धि होगी पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो उसकी उपलब्धि होंगे वो हम नहीं देने वाले हैं हम सिर्फ उसे निगेटिव प्रोसेस देते हैं कि वो कैसे इनकार करे और इनकार करता चला जाए उस समय तक जब तक कि वहां न पहुंच जाए जहाँ इनकार असंभव है जहाँ स्वीकार करना ही होगा जहाँ उसका मन ही पॉजिटिव के करीब पहुंच जाएगा negative is the process to achieve the positive negative positive उल्टी चीजें नहीं इसलिए अच्छा शिक्षण अच्छी संस्कृति अपने बच्चों को निषेध सिखाएगी इंकार सिखाएगी संदेश सिखाएगी और श्रद्धा आएगी श्रद्धा हम थोपेंगे नहीं अब मजे की बात यह कि अगर हमने एंड पहले थोप दिया हमने अंत बता दिया कंक्लूजन दे दिए तो ये बच्चा क्या सोचेगा इसको सोचने का हमने मौका ही छीन लिया हमने ही बता दिया कि ये जो मूर्ति है भगवान की हमने ही बता दिया कि ये किताब जो है सत्य है इस पर संदेह नहीं होता और संदेह किया तो भटक जाओ तो हमने जब सब रेडीमेड कंक्लूजन दे दिए तो हमने इसे सोचने का अवसर ही छीन लिया हमने इसको मार डाला जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्यारी है वो आने वाली पीढ़ियों को निषेध सिखाएगा नास्तिकता सिखाएगा संदेश सिखाएगा और मेरा मानना है कि अगर संदेह पूरा किया जाए तो संदेह से ही आदमी उस जगह पहुंच जाता है जहां श्रद्धा का जन्म होता है अगर जीवन में कोई सत्य है तो मैं असत्य को इंकार कर सकूंगा असत्य को कैसे इंकार कर सकूंगा और जब सब असत्य इंकार हो जाएगा तो सत्य शेष रह जाएगा सत्य जो है वो असत्य के इंकार करने पर बच गया शेष रह गया रिमेनिंग जिसको मैं इंकार नहीं कर पाता हूँ जिसको मैंने सब उपाय किए इंकार करने के लिए मैं पाता हूँ ये इंकार नहीं हो सकता जब सब इंकार गिर जाता है और एक ऐसा सत्य प्रकट होता है जिसको स्वीकार किए बिना कोई है ही नहीं जो स्वीकृत है ही क्योंकि सब इंकार उससे टकरा के वापस लौटाते हैं कोई इंकार उससे नहीं काट पाता इंकार से असत्य कटेगा शेष सत्य रह जाएगा इनकार से गलत कटेगा शेष सही रह जाएगा सही हम न दे सही तो आएगा अपने से हम सिर्फ इंकार करने की कला सिखाएं हम सिर्फ संदेश सिखाएं अभी बड़ी उल्टी बात मालूम करती है लेकिन मेरी दृष्टि में यह है कि अब तक दुनिया में आस्तिक नहीं पैदा हो सके उसका कारण है कि आस्तिकता आपने सिखा दी अगर इतनी ही ताकत नास्तिकता सिखाने में लगाई जाए तो दुनिया में परमास्तिक पैदा होंगे होना ही पड़ेगा उन्हें बचने का कोई उपाय नहीं अगर आपने पूरी कला सिखा दी निगेट करने की निगेटिव तो माइंड पैदा कर दिया तो इस निगेट करने वाले चित्त की आखिरी सीमा आ जाती है और एक जगह पहुंच जाता है जहां आगे निगेशन नहीं होता और जब नहीं होता तो स्वीकृति आती तो मेरा कहना यह है कि विदेह तो पैदा होगा पॉजिटिव आएगा निगेशन सिखाना है संदेह सिखाना है श्रद्धा आएगी इंकार सिखाना है स्वीकार आएगा नास्तिकता सिखाओ आस्तिकता आएगी और धैर्य रखने की जरूरत है कि आस्तिकता आए Acharya ji as I been given understanding that there are certain subjects just like chemistry, physics or medical where the positive values are essential. What are your views about that नहीं वहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है वहाँ भी हम असल में कठिनाई क्या है साइंस में तो पॉजिटिव वैल्यूज की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है साइंस तो बेसिकली निगेटिव है क्योंकि साइंस का आधार सिला डाउट है राइट डाउट और साइंस में जो हम सिखाते भी हैं पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव नहीं है वो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव है वो अलग ही बात है वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं मेरे बच्चे को कि पिछले खोज करने वालों ने ये खोजा है इसे तुम परिकल्पना मानो इसे तुम एक हाइपोथेसिस मानो और इस पे तुम खोज करो कि ये ठीक है या नहीं है प्रयोग करो एक्सपेरिमेंट करो लेबोरेटरी में खोज करो पुराने खोज करने वालों ने कहा है कि ये ठीक है ये उनकी निष्पत्ति है प्रयोग का मौका तुम्हें खुला हुआ है और वैज्ञानिक चिंतन का मतलब ही यह है कि हम पुरानी हाइपोथेसिस पर नए बच्चों को प्रयोग करने के लिए आतुर कर सके जरूरी नहीं है कि पुरानी हाइपोथेसिस ठीक ही हो और सच तो यह है कि रोज विज्ञान सिद्ध करता है कि कल की जो हाइपोथेसिस थी वो गलत हो गई न्यूटन गलत हो गया आइंस्टीन में आके और आइंस्टीन गलत हुआ जाता है आगे जाके ये निरंतर होता रहेगा यानी विज्ञान का तो कहना ही यह है कि वो दावा ही नहीं करता एब्सोल्यूट ट्रथ का पॉजिटिव माइंड जो है वो दा, दावा करता है परम सत्य का वो कहता है ये आखिरी सत्य है विज्ञान कहता है कि सब सत्य अप्रोक्सीमेट ट्रथ है कोई सत्य परम नहीं है इसलिए विज्ञान तो बेसिकली निगेटिव है वो तो ये मानते नहीं कि कोई परम सत्य वो तो ये कहता है कि सब रिलेटिव सत्य है अब तक जो हम जानते हैं उससे ये निष्पत्ति निकलती कल हम थोड़ा और ज्यादा जान लेंगे तो हो सकता है निष्पत्ति दूसरी निकले इस निष्पत्ति को सत्य मान के नहीं चलना है इस निष्पत्ति को सिर्फ निकटतम सत्य यानी अब तक जो हम जानते हैं उससे निकला हुआ सार अंश ये इससे अन्यथा हो सकता है इसका इसकी स्वीकृति साइंस में पूरी है और जो साइंस का शिक्षक इस तरह की स्वीकृति नहीं रखे हुए है उसका दिमाग सुपरस्टिटस है तो साइंस का शिक्षा गलती से हो गया अगर वो बच्चों को ये कह रहा है कि हम जो कहते हैं ये परम सत्य है कि आइंस्टीन ने जो कहा ये परम सत्य है तो वो आदमी वैज्ञानिक है ही नहीं हाँ विज्ञान का मूल आधार ही निषेध है और विज्ञान पैदा हो सका उन समाजों में जहां निषेध की स्वीकृति हुई भारत में विज्ञान पैदा नहीं हो सका आज भी नहीं हो सकता है पश्चिम में पिछले 300 वर्षों में विज्ञान पैदा हुआ 300 वर्षों के पहले वहां भी पैदा नहीं हुआ इन 300 वर्षों में पॉजिटिव माइंड के खिलाफ एक बगावत चली सब क्षेत्रों में चाहे राजनीति चाहे धर्म चाहे साहित्य चाहे समाज चाहे चित्र चाहे संगीत सब तरफ बगावत चली और इन 300 वर्षों में हर पुरानी पॉजिटिव वैल्यूज को तोड़ के नेगेटिव वैल्यूज स्थापित की गई जैसे उदाहरण के लिए बनरसा ने बनरसा से किसी ने पूछा कि जीवन में कोई स्वर्ण सूत्र है is there any golden rule in life तो बनरसा ने कहा yes there is one golden rule that there are no golden rules Pakistan ने कहा कि एक ही स्वर्ण सूत्र है कि जीवन में कोई स्वर्ण सूत्र नहीं है अब ये एक बढ़िया बात इसका मतलब क्या हुआ का ये आदमी बोल रहा है पुरानी भाषा में ये कह रहा है हाँ एक स्वर्ण सूत्र है पुरानी भाषा ऐसा बोलती थी हाँ ये स्वर्ण सूत्र है लेकिन बनता कह ही रहा है कि एक ही स्वर्ण सूत्र है कि कोई स्वर्ण सूत्र नहीं है तो सब स्वर्ण सूत्रों को निषेध कर दिया पिछले 300 वर्षों में बोलतेर विद्रोह मार्क्स बाकुनिन क्रोपाटकिन इनकी सारी पूरी यात्रा रसल तक निषेध की यात्रा है इस निषेध ने एक हवा पैदा की उस हवा से विज्ञान पैदा हुआ क्योंकि सब संदेह करना शुरू किया आदमी छोटी छोटी चीजों पर भी संदेह नहीं करता रहा है संदेह की हमारी आदत ही नहीं थी अतीत ने हमें विश्वास सिखाया था संदेह नहीं और हजारों साल तक हम ऐसी बात मानते चले गए जिसको हम थोड़ा सा भी प्रयोग करते तो पता चल जाता हमारी आम मान्यता ये थी कि अगर दो पत्थर एक मकान के ऊपर से गिराए जाए तो छोटा पत्थर पीछे गिरेगा बड़ा पत्थर पहले गिर जाएगा अब ये इतने छोटे से प्रयोग से हो सकता था कि आप ऊपर गए होते छत के और आपने छोटा और बड़ा पत्थर एक ही साथ छोड़ दिए होते तो आपको पता चल गया होता कि दोनों साथ गिरते हैं कि छोटा बाद में गिरता बड़ा पहले गिरता लेकिन किसी ने पांच हजार वर्ष की मनुष्य जाति के इतिहास में सारी दुनिया में ये बात मानी जाती रही और स्वाभाविक लगता था बिल्कुल कार्तिक कि छोटा पत्थर पीछे गिरेगा बड़ा पत्थर पहले गिर जाएगा क्योंकि बड़े पत्थर के पास ज्यादा मांस है वजन ज्यादा है तो वजन चीज पहले नीचे आ जाएगी जिस आदमी ने पहली दफा पिसा के टावर पर खड़े होकर पत्थर गिराया तो लोगों ने उसको पागल कहा कि तुम पागल हो अरे बड़ा पत्थर पहले गिरेगा ये तय ही है इसमें कोई इसमें कोई सोचने की बात है कि कोई प्रयोग करने वाली आदमी का दिमाग खराब और हमने भी यही कहा होता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इसको कुछ करने की जरूरत है बड़ा पत्थर पहले गिरेगा ये साफ लेकिन उस आदमी ने कहा लेकिन देख तो लेने दो मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ गिर जाते लेकिन हम भी अगर उसके पास होते तो हम भी उससे कहे होते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया साथ गिर कैसे सकते और जब उस आदमी ने देखा कि दोनों साथ गिरते तो उसने अपने मित्रों को यूनिवर्सिटी थी के साथ यूनिवर्सिटी और हैरानी होगी ये कि ज्ञानियों से ज्यादा अंधे लोग बहुत कम होते हैं यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर को उसने जाके कहा कि ये पत्थर सांप गिर गए तो उसने कहा इसमें कोई शैतानी मामला होना चाहिए प्रोफेसर ने कहा इसमें कोई डेविल काम कर रहा है शैतान को ऐसी तरकीब कर रहा है कि दोनों सांप गिरा दी नहीं तो दोनों सांप गिर नहीं सकते बड़ा पत्थर बड़ा है बजनी पहले गिरेगा और इस आदमी के भीतर कोई शैतान घुस गया असल में संदेश शैतान ही समझा जाता था डाउट जो था वो डेविल इनकारनेट जिस आदमी के मन में संदेह पैदा हुआ उसके भीतर सदाम घुस गया और जिस आदमी में श्रद्धा उत्पन्न हुई उसके भीतर भगवान संदेह ने ही इन तीन सौ वर्षो में विज्ञान को गति दी इसलिए जिन मुल्कों में आज जितना तीव्र संदेह है वहां विज्ञान उतनी तीव्रता से गति कर रहा है ऐसी कोई चीज स्वीकृत नहीं है जिसको हम प्रयोग करके नहीं देखने की इच्छा रखते हैं आज हम प्रयोग करके देखेंगे ही प्रयोग तय करेगा और हो सकता है कल और बड़े प्रयोग तय करें कि जो हमने जाना था वो भी गलत था विज्ञान रोज बदल रहा है सच तो ये है कि आज विज्ञान के ऊपर बड़ी किताब लिखना मुश्किल हो गई क्योंकि बड़ी किताब लिखने में दो वर्ष लग जाते हैं और दो वर्ष में जो आपने लिखा वो आउट ऑफ डेट हो इसलिए विज्ञान छोटे पीरियोडिकल पर निर्भर हो गया है हर महीने निकले हर पंद्रह दिन में निकले क्योंकि पंद्रह दिन में इतना फर्क हो रहा है विज्ञान मानता ही नहीं एब्सोल्यूट ट्रथ को इसलिए विज्ञान पॉजिटिव माइंड का सारा नहीं मानता विज्ञान तो कहता ही है कि निषेध सूत्र है संदेह मार्ग है और जो आज तक पा लिया गया है उस पर भी पुनः पुनः संदेह करते ही चले जाना ताकि तुम और पा सको और पा सको और ऐसा भी वो नहीं मानता कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ संदेह व्यर्थ हो जाए संदेह जारी रहेगा क्योंकि खोज अनंत है विज्ञान तो मानता है कि संदेह जारी ही रहेगा खोज अनंत है इस अनंत खोज में कभी भी पकड़ के मत बैठ जाना जहां पकड़ के बैठ जाओगे वही नुकसान होता है मेरा मानना यह है कि वैज्ञानिक चित्त ही निषेध से भरा होता है और जिसको हम अब तक धार्मिक चित्त कहते थे तथा कथित थोथा धार्मिक चित्त सूडो रिलीजियस वो संदेह के खिलाफ भरा होता है अब मेरी मान्यता चूंकि ऐसी है कि धर्म परम विज्ञान है सुप्रीम साइंस है क्योंकि जीवन में जो सबसे गहरा है धर्म उसकी खोज करता है इसलिए धर्म को भी वैज्ञानिक होना चाहिए उसको भी निषेध से ही शुरू करना चाहिए sir what measures you suggest for the coming generation and what type of education और learning should be given so that the old corruption of power should not be impose on the new generation जैसे मैंने कहा नई पीढ़ी को कुछ मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए जैसे व्यक्तित्व के मूल्य की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति होने की शिक्षा इस बात की शिक्षा की तुम भूल के कि किसी समूह समाज के अंग मत बन जाना सदस्य बन सकते हो अंग मत बनना संबंधित होना लेकिन अपने को खोना मत अपने को आइडेंटिफाई मत करना कहीं इतना तादाद मत कर लेना कि तुम कुछ भी न रह जाओ और समूह संगठन सब कुछ हो जाए तुम व्यक्ति जीवन भर बने रहना इंडिविजुअलिटी को तुम जीवन भर खोजना निषेध की शिक्षा कि तुम संदेह करना तुम चरम संदेह करना तुम संदेह करने से भयभीत मत होना श्रद्धा से भयभीत होना संदेह से भयभीत मत होना तुम संदेह करना तुम उस सीमा तक संदेह करना जहां तक तुम्हारी सामर्थ्य मरते क्षण तक तुम संदेह करना ताकि तुम सत्य के करीब से करीब पहुंच सको ताकि संदेह करके तुम असत्य को काट सको और सत्य तुम्हारे निकट से निकट आने लगे निकट से निकट होने लगे आइंस्टीन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था 700 प्रयोग कर चुका और सफल नहीं हुआ है लेकिन रोज सुबह अपनी लेबोरेटरी में हंसता हुआ आके खड़ा हो जाता है वापस तो उसके साथ जो एक युवक काम कर रहा है वो थक मरा है कि ये बूढ़ा पागल है क्या सात सौ बार असफल हो चुका है और रोज फिर सुबह तो खड़ा हो जाता है तो उसी तरह फिर नया शुरू करते वो युवक थक गया वो परेशान हो गया असल में वो युवक बूढ़ा है आइंस्टीन जवान है वो युवक उससे कहता है कि अब ये छोड़ ही देना चाहिए कि तुम कितनी दफा हार चुके अंशन कहा हार चुके तुम पागल हो गए हम हर बार जीत रहे हैं कहा जीत रहे हैं हर बार प्रयोग असफल हो रहा है आइंस्टीन ने कहा कि 700 दिशाओं में हमने खोज की वो 700 दिशाओं में सत्य नहीं है ये हमें पता चल गया हम 700 बार सफल हो गए सत्य निरंतर एलिमिनेट होकर करीब आकर जा रहा है अगर मान लो सात सौ पंद्रह दफे सत्य होगा तो अभी चौथा बार हमें और इलिमिनेट करना है चौदह रस्ते और निश्चित करने पड़ेंगे फिर वही शेष रह जाएगा फिर वो बच के भाग नहीं सकता हम उसको पकड़ ही लेंगे वो जाएगा हम 700 मार्गों पर खोज चुके कि वो नहीं है वहां इतना तो निश्चिंत हो गए हम इतनी तो हमने सीमा काट के फिर अब अज्ञात का क्षेत्र सिकुड़ गया है बढ़ाने रह गया हमने इतना हिस्सा काट डाला है खोजते जाएंगे खोजते जाएंगे तोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे फिर आखिर में वही शेष रह जाएगा उसे हम पकड़ ही लेंगे तो सिखाना है संदेह सिखाना है इलिमिनेशन निषेध छोड़ो जो असत्य है उसे तोड़ो इंकार करो ताकि अंततः सत्य बच जाए सिखाना है बच्चों को जैसा हम कहते हैं क्या ज्ञान दे ज्ञान नहीं देना है थर्स्ट फॉर लर्निंग लर्निंग नहीं ज्ञान नहीं देना है ज्ञान की प्यास विश्वविद्यालय से निकलता हुआ कोई बच्चा इस भ्रम में पड़ा हुआ ना निकले कि मैं सर्टिफिकेट ले आया और ज्ञानी हो गया अभी यही हो रहा है अभी सिर्फ अज्ञानियों को ज्ञानी होने के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं ज्ञान नहीं देना है देना है ज्ञान की प्यास ज्ञान नहीं सिखाना है सिखाना है सीखने की क्षमता एटीट्यूड ऑफ लर्निंग पुरानी दुनिया ज्ञान सिखा देती थी रेडीमेड उधार बाबा जिज्ञासा नहीं खिलाती थी जिज्ञासा मार देती थी पकड़ा देती थी फॉर्मूले किताबें सत्य तैयार था वो दे दिया जाता था बारूद उधार बाधा वो आदमी को मार डालता था बासा कर देता था उधार कर देता था जीवंत तो मनुष्य को पैदा करने के लिए उधार बासा ज्ञान थोप नहीं देना है उधार और बासे ज्ञान को भी जंपिंग बोर्ड का ही उपयोग करवाना है कि तुम इसको सीखो इस पर खड़े होकर आगे छलांग लगा जाओ इसको सीखो ताकि तुम और पूछ सको जो तुम अकेले में नहीं पूछ सकोगे इसको सीखो ताकि तुम और संदेह कर सको जो कि तुम अकेले नहीं कर सकोगे सीखो ताकि तुम्हारे प्रश्न और जग जाए यानी पुराण पुरानी शिक्षा देती थी उत्तर नई शिक्षा सिखाएगी प्रश्न बटन रसल ने एक अनुभव लिखा लिखा जब मैं पहली दफा पढ़ने यूनिवर्सिटी गया था तो मैंने सोचा था कि दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा तो मुझे सब उत्तर मिल जाएंगे सब प्रश्न मेरे हल हो जाएंगे मैं निश्चिंत हो जाऊंगा लेकिन अब 80 वर्ष के बुढ़ापे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी धारणा गलत थी मैं सोचता था दर्शन साहब से उत्तर दे देगा लेकिन हर उत्तर तो मेरे सामने नए दस प्रश्न खड़े कर दिए तो तब मैंने लिखा था कि दर्शन शास्त्र मनुष्य के गहरे उत्तरों का खोज है अब मैं कहना चाहता हूँ दर्शन शास्त्र नए प्रश्नों की खोज है लेकिन ये बटन रसल को हुआ बटन लसन के साथ और लोग भी बड़े होंगे वो उत्तर लेके चले गए अब तक हमारे बीच जो प्रतिभा थी जीनियस था वो तो नहीं बनता था उधार ज्ञान से वो बच जाता था वो तो इनकार कर ही देता था हमारी सब कोशिश के बावजूद इन स्पाइट ऑफ अस वो ज्ञानी नहीं बनता था लेकिन जो सामान्य चित्र था जो मीडिया पर माइंड है वो ज्ञानी बन के लौट आता था अब हम एक ऐसा शिक्षा की व्यवस्था बनाना जहां हम किसी को कर न बनने देंगे हम प्रत्येक के भीतर प्रश्न उठाएंगे हमें उत्तर देने की चिंता नहीं होगी जितना प्रश्न जगाने की अगर हम उत्तर भी लाएंगे कहीं से तो सिर्फ इसलिए कि वो नए दस प्रश्नों के लिए जन्म देने का कारण बन जाए वो आपके भीतर समाधान न बने नई समस्याओं का द्वार बन जाए और विश्वविद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी ऐसे प्रश्न लेके आए जो जिंदगी में उसे खोजने ऐसे उत्तर लेके ना आ जाए जो जिंदगी में उसे थोपने तो हम नया जीवंत मनुष्य पैदा कर सकेंगे जीवित मनुष्य अगर पैदा नहीं किया जा सका तो पुराना मनुष्य मरने की उस जगह पे पहुंच गया है जहां से शायद फिर जीवन की संभावना भी खत्म हो जाएगी शायद पूरी तरह मर जाएगा मरते मरते मरते मरते हमने आदमी को वहां पहुंचा दिया है कि जहां या तो बिल्कुल मरेगा वो और या फिर हमें बिल्कुल नए मनुष्य को पैदा करना पड़ेगा मैं जो भी कह रहा हूं वो उस नए मनुष्य की खोज के लिए मनुष्यता को मुक्त तो करना ही है क्योंकि मनुष्यता मुक्त ना हो तो विक्षिप्त होगी पूरी मनुष्यता विक्षिप्त हो जाएगी हो ही गई है पृथ्वी उसके करीब करीब एक मेड हाउस एक बड़ा पागल खाना यहाँ हमने छोटे छोटे पागल खाने भी बनाए हैं ज्यादा पागल हो गए लोगों के लिए और कहना कठिन है कि वे लोग जिन्हें हमें पागल खाने में रखना पड़ रहा है वे इसीलिए तो नहीं कहीं ज्यादा पागल हो गए कि हम सब पागलों के बीच रहना उन्हें मुश्किल ये भी हो सकता है कि हम सबके बीच रहना कुछ लोगों के लिए इतना कठिन हो जाता है कि सिवाय पागल होने से दूसरे उपाय नहीं सकता सारी दुनिया पागल है मनुष्य को बचाना ही होगा इस पागलपन से लेकिन मनुष्यता मरेगी उसके पागलपन से युद्ध आते हैं महायुद्ध आते हैं और अब अंतिम युद्ध भी आ सकता है पागल मनुष्य का कोई भरोसा नहीं कि कब आत्महत्या कर ले उसने तैयारियां पूरी कर ली लेकिन मजे की बात यह है कि मनुष्यता के इस पागल होने में बुरे लोगों का हाथ नहीं है और यही कठिनाई है सबसे बड़ी जिसे समझना मुश्किल हो जाता है मनुष्यता के इस पागल होने में तथाकथित अच्छे लोगों का हाथ है क्योंकि उन्होंने जो तरकीबें सुझाई थी उनका ये फल हुआ है उन्होंने तरकीबें सुझाई थी सरल दिखाई पड़ो सरल हो जाओ उन्होंने तरकीबें सिखाई थी प्रेम करो अहिंसा साधो उन्होंने तरकीबें सिखाई थी सत्य बोलो झूठ छोड़ो उन्होंने तरकीबें सिखाई थी परिग्रह नहीं अपरिग्रह वस्तुएं कम आवश्यकताएं थोड़ी ये सारी तरकीबें जो सिखाई ब्रह्मचरी सेक्स नहीं त्याग भोग नहीं शरीर की दुश्मनी तो परमात्मा को पा सको ये सारी तरकीबों का अंतिम इकट्ठा परिणाम ये हुआ है कि आदमी पागल होकर चला गया अच्छे आदमियों ने मिलकर मनुष्यता को पागल कर दिया इस पागलपन को अगर मिटाना हो तो हमें अच्छे आदमियों द्वारा सिखाई गई सारी बातों पर पुनर्विचार करना होगा जैसे उसमें से एक ही बुनियादी बात है कि हम कोई भी चीज मनुष्य पर थोपना बंद कर दें मनुष्य पर कुछ भी थोपना बंद कर दें ऊपर से डालना बंद कर दें हाँ हाँ है ही वो वो है ही जो लोग भी जाने अनजाने खुद को या दूसरों को दुख देते सुन किसी न किसी तरह के विक्षिप्त रोग हैं वो किसी न किसी तरह से पागलपन में पड़े हुए दूसरे को दुख देने वाला तो हमको दिखाई पड़ जाता है लेकिन खुद को दुख देने वाला हम महात्मा बना लेते हैं लेकिन दुख देने की वृत्ति वही है उसका ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है मैं दूसरे को भी सता सकता हूँ खुद को भी सता सकता हूँ ये जो दुनिया की अब तक की नैतिकता है वो सेडिस्ट और है दुनिया की पूरी नैतिकता अब तक की पूरी नैतिकता मनुष्य को मुक्त करने वाली नहीं है रुग्ण करने वाली है तो यही मैं कह रहा हूं कि मनुष्यता की मुक्ति का पहला आधार तो यह होगा कि मनुष्य जैसा है हम उसे स्वीकार करें उसे जल्दी नैतिक बनाने की चेष्टा खतरनाक है महंगी है उसके भीतर क्रोध है तो हम जल्दी से क्षमाना सिखाएं क्योंकि जल्दी सिखाई गई क्षमा सिर्फ क्रोध को दबा देगी और झूठी हो जाएगी वो आदमी क्रोधी ही रहेगा और क्षमा का अभिनय करेगा ये इतना टेंशन पैदा करेगी उसकी स्थिति भीतर की क्षमा का अभिनय करना और क्रोध में जीना ये इतना तनाव पैदा कर देगी कि आदमी पागल होगा तो हम क्रोध को स्वीकार करें और बजाय क्षमा सिखाने के क्रोध के प्रति जागना सिखाएं इसलिए पूरी नैतिकता और अर्थ की होगी ये नई नैतिकता है मनुष्य जैसा है उसके प्रति जागरण सिखाएगी कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा नहीं देगी ये नई नैतिकता उपदेश की नहीं होगी और क्या अच्छा है इसकी नहीं होगी जो है उसके प्रति हम कैसे जागे हाउ टू बी अवेयर इसकी होगी और मनुष्य जैसा है उसको हम स्वीकार करते हैं उसमें क्रोध है काम है लोभ है घृणा है प्रेम है जो भी है उसके भीतर हम उसे स्वीकार करते हैं कि वो है इसे हम मानते हैं दी गिवन वो मिला हुआ है अब इसके प्रति हमें जागना है ताकि हम ठीक से परिचित हो सके कि मैं क्या क्या हूं अभी जल्दी नहीं है इस बात की कि हम कैसे हो जाएं। अभी इसी बात की तीव्रता होनी चाहिए कि हम कैसे हैं जो हम हैं उसके प्रति हम पूरे जांच लें और मजे की घटना यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूरे चित्त के प्रति जागता है तो चित्त में जो दुखदायी है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाता है और जो सुखदायी है उस तरफ गति होना शुरू हो जाती है जागा हुआ आदमी क्रोध से कब क्षमा पर पहुंच जाता है इसका उसे पता भी नहीं चलता जागा हुआ आदमी सेक्स से कब ब्रह्मचरी पे पहुंच जाता है इसका उसे पता भी नहीं चलता जागा हुआ आदमी कब जिसको हम पाप कहते हैं उससे मुक्त होकर पुण्य में गति कर जाता है इसको उसे पता भी नहीं चलता और तब वो कॉन्शियस भी नहीं होता और तब इस पुण्य का कोई अहंकार और इस पुण्य का कोई दावा और इस पुण्य के बदले में कोई स्वर्ग पाने की आकांक्षा भी उसमें नहीं होती क्योंकि इस पुण्य से उसे इतना आनंद मिल रहा है कि अब और कोई स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं इस पुण्य में वो इतना आनंदित है इतना प्रफुल्लित है कि अब और इसका और प्रतिफल आगे मिलना चाहिए कोई सवाल नहीं उसका एक एक क्षण आनंद का क्षण हो गया मनुष्य को गलत दिशा पर ले जाया गया है लेकिन शायद जरूरी था इस पिछले इतिहास में क्योंकि जंगल से जैसे ही आदमी मुक्त हुआ तो उसके पास जो जो जंगली वृत्तियां थी उनके साथ दूसरे आदमी के साथ रहना बहुत कठिन था तो सीधा सरल जो उपाय सूझा होगा वो यही सूझा था कि भाई इन व्यक्तियों को रोको ताकि दूसरे के साथ रह सको समाज बन सके सभ्यता बन सके ये पहला उपाय था जो समझा था बिल्कुल ही प्रिमेटिव था लेकिन आज का आदमी भी उसी प्रिमेटिव इफेक्ट के नीचे जी रहा है जो कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण स्टूपिड प्राथमिक तल पर ठीक भी हो सकता था चाहे जंगल से निकले आदमी को और कुछ नहीं सोच सकता था कि वो क्या करे उसे यही सूझा होगा कि बाहर से जो भी कर सके करे क्योंकि भीतर को उसे कोई कथा भी नहीं हो सकता लेकिन अब इधर पांच छह हजार वर्षो की नैतिक शिक्षण के बाद ये बात इतनी साफ हो गई है कि नैतिकता ही हमारी विक्षिप्तता में ले जाने का कारण है हमारे मॉरल टीचर्स ही हमें इमोरल बनाए हुए हैं और हमारे साधु सन्यासी ही हमारी सारी सभ्यता के भीतर घाव बीमारियां कोड़ और कैंसर पैदा करने वाले ये अगर साफ दिखाई पड़ जाए तो एक बिल्कुल ही नई नैतिकता एक नई सभ्यता का सूत्र और नई मनुष्यता का आधार रखना पड़ेगा उस मनुष्यता का आधार द्वंद्व नहीं होगा बुरे के साथ जो पिछली नैतिकता का आधार बुरे के साथ लड़ो बुरे को हटाओ बुरे को मिटाओ नई नैतिकता का आधार होगा बुरे को जानो बुरे को जियो पहचानो बुरे के प्रति जागो और अगर जाग गए कुछ तो बुरा चला जाएगा यानी बुरे का जाना जागने का परिणाम होगा बुरे को जाने और हटाने की हमारी कोई चेष्टा नहीं पर हम हटाने वाले ये भी कौन अगर बुरा भी उपयोगी है जीवन के लिए तो रहेगा अगर बुरे में भी कोई रस और आनंद है तो रहेगा लेकिन मेरा मानना है कि बुरे में कोई रस और आनंद नहीं है हम जब तक नहीं जागे हैं तभी तक उसमें रस और आनंद की भ्रांति हो सकती जैसे ही हम जागेंगे तो पुरानी नीति कहती थी कि शुभ में आनंद है मैं कहता हूँ जिसमें आनंद है वही शुभ है पुरानी नीति कहती थी बुरे में दुख है मैं कहता हूँ जिसमें दुख है वही बुरा है इनमें बुनियादी फर्क पड़ गए इसमें अब बुरे को छोड़ने का सवाल नहीं दुख को पहचानने का सवाल है और अब आनंद की चेष्टा करने की जरूरत नहीं आनंद को पहचानने की जरूरत है कि कहा मुझे आनंद मिलता है जिन क्षणों में मुझे आनंद मिलता है वो अपने आप बढ़ने लगेंगे और जिन क्षणों में मुझे दुख मिलता है वो सिकुड़ने लगेंगे और धीरे धीरे एक रूपांतरण होगा जिस रूपांतरण में मेरे भीतर कुछ भी कृतल्य नहीं होगा दबाया हुआ नहीं होगा पंगु नहीं होगा कोई भी लंगड़े मेरे भीतर नहीं सरकते होंगे जिनको मैंने तोड़ डाला है <coughs> कोई भी दमित वासनाएं मेरे भीतर नहीं होती जो निकलने की कोशिश करती रहे और मेरे भीतर कोई तनाव नहीं होगा मैं बिल्कुल टोटल एट ईज अपने साथ बिल्कुल ही विश्राम में मेरी अपने से कोई लड़ाई नहीं और ऐसा क्षण जब कोई व्यक्ति अपने साथ पूर्ण विश्राम को उपलब्ध हो गया ऐसे क्षण को मैं संन्यास कहता हूं कि मेरी संन्यास की अपनी धारणा है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के प्रति पूर्ण विश्राम में जीता है जिसकी अपने भीतर कोई लड़ाई नहीं कोई द्वंद नहीं ऐसे विश्राम के क्षण में ही परम सत्य का अनुभव हो सकता है क्योंकि जब तक हम तने हैं और चित्त तनाव से भरा है और लड़ाई से भरा है तब तक इतनी लहरें हैं चित्त के ऊपर कि हम सत्य को कैसे जान सकेंगे टोटल रिलैक्सेशन का मतलब पूर्ण विश्राम का मतलब ये नहीं कि एक आदमी ने सिर्फ शरीर को रिलैक्स करके छोड़ दिया है उसका भी मूल्य है लेकिन जब पूरा टोटल बींग रिलैक्स होता है इमोशनली सब सब हाँ बुद्धि भी भाव भी वासना भी कामना भी आकांक्षा भी सब विश्राम को उपलब्ध हो सकती है जब मेरा पूरा व्यक्तित्व टोटल बींग कि मेरे भीतर कोई स्वर ही नहीं होता संघर्ष जब मैं पूर्ण विश्राम में डूबा होता हूँ तब मैं उसे जानता हूँ जो है जिसे हम सत्य कहें परमात्मा कहें पूर्ण विश्राम उसका द्वार है और बड़े मजे की बात है बड़े दुख की कि हमारी पूरी नीति हमें विश्राम के विपरीत ले गई विश्राम में नहीं ले गई अत्यंत कलह में और कॉन्फ्लिक्ट में ले गई और उसने ऐसी जगह आदमी को पहुंचा दिया जहां परमात्मा का मंदिर निकट नहीं होता सिर्फ पागल खाने का दरवाजा नहीं होता परमात्मा के निकट पहुंचाने में आदमी को सिर्फ पागल खाने के दरवाजे पर पहुंचा दिया गया और इसलिए पागल खाने का दरवाजा ही उसके मंदिर का दरवाजा बना हुआ है मंदिर और मस्जिद और गिरजे सब आदमी को पागल कर रहे हैं वो नाम भर के परमात्मा के मंदिर है वो सब आदमी को पागल करने की तरफ ले जाने की कोशिश मुश्किल पिछली मनुष्य जाति का पूरा इतिहास इसको बताता है कि हमने बहुत गलत रास्ते पर कदम रखे आने वाले आदमी को इस पूरी भूल के प्रति सजग करने का बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है कि सजगता आएगी क्योंकि सजगता आती भी उन क्षणों में है जब जीवन बहुत संकट में पड़ जाता है अब जीवन उस संकट की घड़ी से गुजर रहा है कि या तो हम जागेंगे या मरेंगे या तो आदमी बचेगा या खत्म होगा पूरी की पूरी रेस पागलपन के रास्ते पे चली गई है पूरी जाति मनुष्य की ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग पागलपन के रास्ते पे चले गए पूरी जाति का जो ढांचा हमने डाला है जो पैटर्न हमने दिया है दिमाग को वो उसे रुग्ण करने वाला है उस पूरे ढांचे को बदलने की बात ये काम बहुत बड़ा है इससे बड़ा शायद कोई काम ही नहीं हो सकता लेकिन ये काम कितना ही बड़ा हो हो सकता है क्योंकि आदमी उस जगह पहुंच गया है जहाँ चीजें क्लाइमेक्स पे पहुंच के दिखाई पड़ रही साफ दिखाई पड़ रही उसकी राजनीति वहां पहुंच गई जहाँ विश्व का अंत हो जाए उसके धर्म वहां पहुंच गए हैं जहां एक दूसरे की गर्दन को पकड़े हुए अब उनकी झूठी बातों का कोई मतलब नहीं कि सब भाई भाई है सब प्रेम है और विश्व हमारा कुटुंब है इन सब बातों का कोई मतलब नहीं क्योंकि उनके हालत में दिखाई पड़ रहे हैं सब एक गर्दन पकड़े हुए और ये भी कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम और लव दाई नेवर ये भी सब कहे चले जा रहे हैं वो जो आदमी कह रहा है अपने पड़ोसी को प्रेम करो वही पड़ोसी की गर्दन दबाए हुए खड़ा और छुरा निकाले उसकी छाती पे बैठा है कि तुझे ईसाई हो जाए और वो जो आदमी कह रहा सारा विश्व हमारा कुटुंब है वो भी कहता है कि मैं हिंदू और वो जो आदमी कहता है सब भाई भाई है वो भी कहता है हमको तो पाकिस्तान अलग चाहिए हम तो मुसलमान सारे धर्म अब अपनी दूसरे जगह खड़े हो गए जहां हम देख सकते हैं उनकी असली शक्लें रोग अपनी पूरी सीमा पर पहुंच गया जहां परखा जा सकता राजनीति पागलपन को ले जाके खड़ी कर दी वो साफ जाहिर है कि सारा दुनिया उन्होंने उस जगह पहुंचा दी जहां सुसाइडल घटना घट गट सकती है यूनिवर्सल सुसाइड हो सकता है ये जो स्थिति है ये इतनी साफ हो गई है कि आज इस बात की संभावना के इस संकट में इस क्राइसिस में अगर कुछ लोग श्रम में लग जाए तो शायद मनुष्य को जगाया जा सके ऐसा क्षण पहले कभी था भी नहीं कि पहली दफा ऐसा क्षण आया अंतिम संकट का शायद अंतिम संकट में चीजें दिखाई पड़ रही और एक बिल्कुल नए धर्म का नए धर्म से मेरा मतलब कोई मुसलमान कोई ईसाई कोई हिंदू ऐसा कोई नया धर्म नहीं नए धर्म से मेरा मतलब कि धर्म की पुरानी सारी धारणाओं को तोड़कर मनुष्य को स्वीकार करने वाला मनुष्य को द्वंद में न डालने वाला मनुष्य को तनाव में न ले जाने वाला मनुष्य को विश्राम में ले जाने वाला और जागरूकता की तरफ गति करने वाला एक एक धर्म एक वैज्ञानिक धर्म एक साइंटिफिक रिलीजन पैदा हो जाए और ये हो तो ही आशा है ये ना हो तो कोई आशा नहीं लेकिन ये सबके लिए हो पाए या ना हो पाए जिन व्यक्तियों को भी ख्याल में आ जाए उनके लिए तो पैदा हो ही जाना चाहिए यानी ये सवाल भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रतीक्षा करूंगी सारी दुनिया में जब होगा तब मैं करूंगा ये सवाल नहीं है मुझे तो जो आनंद लग रहा है उस तरफ मुझे जाना ही है और जिनको भी लगे उन्हें जाना है और जो भी आदमी जाएगा उसके साथ जैसे ये आनंद भीतर घनीभूत होता है वो उस आनंद को दूसरों से साझीदार भी बनाना चाहता है ये बड़े मजे की बात है कि दुख में हम किसी को साझीदार नहीं बनाना चाहते बल्कि दुख में हम भागना चाहते हैं दूसरों से बचना चाहते हैं अगर तुम दुखी हो तो द्वार बंद करके कमरे में बैठने का मन होता है कोई ना आए कोई ना मिले ऐसा मन होता है दुख सुखोड़ता है आदमी को और जब तुम आनंदित हो तब तुम मित्र को खोजना चाहते हो किसी को बांटना चाहते हो कि आनंद अकेला बेमानी है वो इतना ओवरफ्लो करता है कि दूसरे तक पहुंचना चाहता है तो मेरी चेष्टा यही है कि जहाँ थोड़े से ही लोगों तक जिन तक आवाज पहुंच सके उनको इतने आनंद की दिशा में ले जाने के प्रभाव दृष्टि और दिशा मिल जानी चाहिए कि जब वो आनंदित हो तो उनके ऊपर से ओवरफ्लो होने लगे उनके आसपास बिखरने लगे कोई कठिनाई नहीं है कि आने वाले सौ वर्षों में मनुष्य जाति में बिल्कुल ही नई तरह की वैज्ञानिक मनुष्यता का जन्म हो जाए अब तक हमने विज्ञान का उपयोग किया है पदार्थ पर मनुष्य पर किया ही नहीं मनुष्य के साथ हम बिल्कुल ही अवैज्ञानिक हैं अकेले पदार्थ पर हमने साइंस का उपयोग किया है इसलिए पदार्थ में हमारी बहुत गति हो गई वहां ज्ञान हमारा आकाश छूने लगा वहां हम चांद पर उतर गए वहां हम अणु को तोड़ लिए अब मौका आया है कि हम आदमी पर भी विज्ञान का प्रयोग करें साइंटिफिक मॉरलिटी जो मैं कह रहा हूँ वो वैज्ञानिक नीति होगी वैज्ञानिक धर्म होगी और जिस दिन हम आदमी पर भी विज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे उस दिन सारे जगत के तल पर इस बात की संभावना है ही इसे हम दो तरह से कह सकते हैं अगर हम ये माने कि अभी जो मनुष्य है इसको मनुष्य कहना ठीक नहीं है सब ह्यूमन है ये आदमी से थोड़ा नीचे तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग पहली दफा पैदा हो जाए मनुष्य पैदा होगा या अगर हम इसको मनुष्य कहें तो हम कह सकते हैं कि सुपरमैन पैदा हो जाए ये परिभाषा की बात है कि हम क्या कहते हैं लेकिन एक बात तय है कि मनुष्य जाति के इतिहास में वो मोड़ आ गया है जहां से बिल्कुल नए प्राणी के जन्म की संभावनाएं प्रकट होती है एक नया आदमी पैदा होगा मुझे ऐसा लगता है कि जानवर से मुक्त होकर हम मनुष्य नहीं हो पाए सिर्फ सब ह्यूमन हो पाए सुपर एनिमल और सब ह्यूमन जानवर से तो ऊपर आ गए और आदमी हो नहीं पाए आदमी से नीचे रह गए तो ये जिसको हम अब तक मनुष्यता कहते रहे हैं ये बीच की संक्रमण की अवस्था है जहां से जानवर आदमी होने की कोशिश करता रहा है अब वो क्षण करीब आ रहा है जहां आदमी पैदा हो सकता है और आदमी तभी पैदा होगा जब हम उससे बोध अवेयरनेस और आनंद की दिशा में गतिमान कर सके ये हो सकता है Do you feel, sir, that uh, new education may bring some revolution which may free the individual and make a beautiful society. शिक्षा तो आधार है शिक्षा आधार है और अगर हम नए मनुष्य का जन्म कैसे हो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि साफ हो जाए तो शिक्षा में उसका प्रयोग करेंगे ही करना ही चाहिए पुरानी नीति की शिक्षा बंद हो जानी चाहिए मनुष्य को तनाव में डालने वाली सारी बातें बंद हो जानी चाहिए नई पीढ़ियों को इतना स्वीकार भाव होना चाहिए कि जो भी हमारे भीतर है वो स्वीकृत है जैसे आंख कान है ऐसा ही और सब भी है और वो कितना है उसकी हम पूरी जांच पता करें उसे हम पूरा पहचान है अब आंख के संबंध में कितना ज्ञान हो गया आज तो आंख है बस बात खत्म हो गई इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते पर आज तो आंख के बाबत पूरा विज्ञान खड़ा हो गया आज तो आंख के बाबत इतना ज्ञान है कि एक आदमी आंख के संबंध में नहीं जानना चाहे तो जीवन में नहीं जान सकता लेकिन सेक्स के बाबत हम क्या जानते सच तो यह है कि इधर श्राय के बाद थोड़ी सी बात उठी है नहीं तो सेक्स के बाबत हम कुछ भी नहीं जानते लेकिन सेक्स के खिलाफ हम हजारों साल से बकवास कर रहे थे और जानते कुछ भी नहीं प्रेम के बाबत हम क्या जानते कवियों की कविताएं हमने सुनी और प्रेम के संबंध में प्रेमियों के गीत और कहानी पढ़ी लेकिन प्रेम की घटना मनुष्य की चेतना में कितनी गहराइयों तक क्या अर्थ रखती है इसके बाबत हम कुछ भी नहीं जानते न हम क्रोध के बाबत कुछ जानते हैं न घृणा के बाबत कुछ जानते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व में जो भी छिपा है उसका कितना गहरा इम्प्लीकेशन है और कितने दूर तक उसकी जड़ें हम कुछ भी नहीं जानते ये अज्ञानधारी है ये अज्ञान नई शिक्षा को मिटाना पड़ेगा और नई शिक्षा को इस दिशा में काफी गति करनी चाहिए असल में जितनी मेहनत हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की खोजबीन में कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मेहनत हमें ह्यूमन केमिस्ट्री के संबंध में फिक्र करनी चाहिए कि हम मानव रसायन को पूरी तरह जान सकें और जब ये सारे सूत्र में साफ हो जाए तो एक नई शिक्षा गति कर सकती है असल में कोई चीजें हैं इससे ही मालूम नहीं होता कि हम उनको हमको उनका पता हो गया आज से तीन सौ साल पहले तक आदमी को ये पता नहीं था कि खून गति करता है ये ख्याल था कि शरीर में खून भरा हुआ है और खून तो गति करता है सदा से हमारे भीतर भी गति करता है लेकिन अगर मुझे बताया ना जाए तो मुझे भी ख्याल नहीं हो सकता कि खून गति कर रहा है खून ठहरी हुई चीज नहीं लेकिन आज से तीन सौ साल पहले तक खून भरी हुई चीज थी जैसे बर्तन में पानी भरा हुआ ऐसा शरीर में खून भरा हुआ अब मेरे ही शरीर में खून गति कर रहा है मुझे ही पता नहीं चला बहुत मुश्किल से ही पता चला कि खून गति कर रहा है और जब खून गति कर रहा है ये पता चला तो खून के संबंध में हमारे सारे ख्याल हमें बदलने पड़े पूरी दृष्टि बदलनी पड़ी ठीक ऐसे ही क्रोध क्या कर रहा है हमारे भीतर प्रेम क्या कर रहा है सेक्स क्या कर रहा है लोभ क्या कर रहा है अहंकार क्या कर रहा है हमारे भीतर इन सबका रासायनिक अर्थ क्या है इनसे क्या हो रहा है दबाने से क्या हुआ है इनको जानने से क्या होगा इस सब दिशा में बहुत रिसर्च की बहुत खोज की जरूरत है और उस सब का इम्प्लीमेंटेशन उस सब का व्यवहारिक उपयोग शिक्षा की पद्धति में होना चाहिए तो ही हम नए आदमी के पैदा करने में शिक्षा का उपयोग कर सकते लेकिन दो बातें तय एक बात तो ये कि हमें पुराने से नए बच्चों को बचाना चाहिए शिक्षा का आधा काम तो ये होना चाहिए कि वो अतीत की नासमझियों से बच्चों को बचाए अभी हालत यह है वो अतीत की नासमझियों को बच्चों को दीक्षित करती है उनमें दीक्षित करती है यानी जो बेवकूफियां हजारों साल से चल रही नए बच्चों को भी उनको सिखा देती है बड़ा काम तो ये है प्राथमिक काम यह है कि हम अतीत की भूलों से बच्चों को बचाए और दूसरा काम यह है कि जो जो भूलें अतीत में हुई उनकी जगह क्या किया जाना चाहिए जैसे कि बजाय सेक्स से लड़ने के सेक्स को जाना समझा जाना चाहिए बजाय क्रोध से लड़ना क्रोध से पहचाना जाना चाहिए ये पहचानने और जानने का काम दो तलों पर होगा एक तो इस सब की लेबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ ये प्रयोग चले बड़े पैमाने पर और प्रत्येक व्यक्ति भी एक लेबोरेटरी बने कि वो भी अपना प्रयोग चलाता रहे जैसे हम रोज खाना खाते रोज सोते ऐसे ही हमें रोज हम क्रोध भी कर रहे हैं प्रेम भी कर रहे हैं तो इन प्रेम और घृणा और क्रोध की सारी घटनाओं के प्रति भी हमें उतना ही सचेत होना चाहिए जितना हम खाने के प्रति सचेत हैं कि हम क्या खा रहे हैं हम पत्थर नहीं खा लेते हम मिट्टी नहीं खा लेते हम खाने के बाबत सोच रहे हैं हम कहीं भी नहीं सो जाते हम सोने के बाबत भी सोच रहे हैं इतना ही इससे भी ज्यादा सोच विचार हमारे आंतरिक जीवन और चित्त के बाबत भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं भी लिबर्टी बननी चाहिए साइकोनालिसिस तो अकेली साइकोनालिसिस नहीं साइकोनालिसिस सहयोगी है साइको एनालिसिस सहयोगी है बल्कि कहना चाहिए psycho awareness after psychological education should नहीं असल में साइको एनालिसिस बहुत उपयोगी है लेकिन एनालिसिस विश्लेषण I mean psychological education education भर नहीं ठीक ही है कि मनुष्य के मन के संबंध में शिक्षा हमें देनी चाहिए और मन के संबंध में जो भी जाना गया है वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए बहुत हिम्मत करनी पड़े उसमें भी क्योंकि पुरानी सारी धारणाएं उसमें बाधा डालती पुरानी हजार धारणाएं बाधा डालती है मन के संबंध में जो हम जानते हैं अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे क्योंकि जो हम जानते हैं वो हमारी नीति के विपरीत पड़ता है तो हम उसको छिपाते तो मन की तो पूरी शिक्षा होनी चाहिए और बच्चा स्कूल से शिक्षित होकर निकले उसके पहले उसे साइको एनालिसिस से भी गुजर जाना चाहिए उस उसका मनोविश्लेषण भी हो जाना चाहिए यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होने की डिग्री ही तब मिलनी चाहिए जब उसका मनोविश्लेषण भी हो गया लेकिन इतना ही नहीं मैं कह रहा हूँ साइको एनालिसिस भी पैसिव मामला है दूसरा आपकी करवा देगा एक साइको एनालिसिस आपकी एनालिसिस कर देगा साल भर में और आप में कुछ बातें हल होंगी इससे कुछ बातें साफ होंगी आप ज्यादा हल्के ज्यादा शांत आदमी बन सकेंगे लेकिन फिर भी आप साधक नहीं बन गए इसलिए मैं कह रहा हूँ साइको अवेयरनेस यानी ये एनालिसिस तो दूसरे से होगी इसमें आप पैसिव होंगे साइको अवेयरनेस का मतलब कि आप एक्टिव होंगे पैसिव नहीं आप कुछ करेंगे अपने मन के बाहर हाँ डिस्कवरिंग सेल्फ और इसकी सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा में कि प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं की खोज में आतुर और उत्सुक हो जाए और वो स्वयं को खोजने लगे और स्कूल हॉस्टल शिक्षक विद्यार्थी सारी की सारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ डिस्कवरी में सहयोगी बनती हो बाधक न बनती हो इतनी स्वतंत्रता इतनी सच्चाई ये सब इसमें होनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति अपने को डिस्कवर कर सके क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी कठिन बात है और अगर चांद तरफ से विरोध हो उसका तो बहुत कठिन बात है जब एक बच्चे को पहली तरफ से सेक्स का ख्याल रखना शुरू होता है तो सारा समाज इसके विरोध में तो उसको दबा जाता है वो उसे जानना भी नहीं चाहता लेकिन जिस स्कूल में सेल्फ डिस्कवरी के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था में गुंजाइश होती है तो वो बच्चा आके स्कूल में सबके सामने कह सकेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है लेकिन इसको ना कोई हंसेगा न इसका कोई दमन का विरोध करेगा ना कोई कहेगा कि बदमाशी की बातें बंद करो ये बात नहीं करनी चाहिए कहनी नहीं चाहिए ये अशिष्ट ऐसा भी कोई नहीं कहेगा उसकी बात प्रेम से शांति से सुनी जाएगी सहानुभूति से और जो शिक्षक जानते हैं उस संपन्नों से बताएंगे जो उसके मित्र से व्यक्ति के भीतर जो भी है उसके प्रति हमारा कोई विरोध नहीं होगा उसकी खोज का आमंत्रण होगा और जो बच्चे जितना खोज में अग्रसर होंगे उनका उतना सम्मान होगा और हवा ऐसी होगी कि धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपनी खोज में लग जाए विश्वविद्यालय से निकलते निकलते उसे गणित फिजिक्स और भूगोल और इतिहास ही नहीं जानना चाहिए इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका ये है स्वयं को जानता हुआ निकले कम से कम उतने सूत्र जान के निकले जिनके आधार पर वो जीवन में धीरे धीरे अपने को खोज लेगा और एक दिन उसे भी पहुंच जाएगा जहाँ वो कह सके कि मैं अपने को जानता हूँ और जो व्यक्ति यहाँ तक न पहुँचाया जा सके तो शिक्षा बेमानी है शिक्षा फिर सिर्फ आजीविका सिखा रही है वो, वो सिखा रही कि तुम खाना कैसे कमा लोगे मकान कैसे बना लोगे इससे ज्यादा मूल्य की नहीं वो आत्मज्ञान नहीं सिखा रही है आत्मज्ञान सिखाने की पुरानी बातें भी थी उनका कहना कुल इतना है कि स्कूल में उपनिषद पढ़ाओ गीता पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ फला संत के वचन पढ़ा दो और लोगों को रटवा दो तो आत्मज्ञान हो जाएगा ये सब को की बात है न उपनिषद पढ़ने से न गीता पढ़ने से न किसी संत के वचन पढ़ने से आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान एक लंबी डिस्कवरी है जो इनके के वचन पढ़ने से नहीं भर जाएगा पढ़ाओ उपनिषद भी पढ़ाओ गीता भी पढ़ाओ लेकिन सिर्फ इसके लिए कि बच्चे जाने कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही है कुछ लोगों ने इस खोज पर गए लेकिन इनके पढ़ लेने से उनकी खोज नहीं हो जाएगी उनकी खोज तो एक मनोविश्लेषण मनोजागरण और मनोसाधना उसकी गति उनकी बढ़ती चली जाए तो होगी ये सारी व्यवस्था स्कूल शिक्षण में न हो तो बड़े पैमाने पर नए मनुष्य के पैदा होने में सहयोग नहीं दिया जा सकता फिर हम छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत आधार पर जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं शिक्षण को तो बदलना ही पड़ेगा क्योंकि पुराना आदमी जैसा है वो पुरानी शिक्षा की वजह से नया आदमी जैसा होगा वो नई शिक्षा की वजह से